हरामी गैंग यहाँ पुके सब हरा माल रत वक यहाँ आके रती सबकी लाल चिल्लम का टान मारो बॉम वाला शॉट समर और विंटर हमेशा रहते हॉट लॉन्डियो को भाव नहीं सकती अपना स्वैग में भी आके कभी देख आम ब्लैक निगर आम ब्लैक निगर रांची के स्ट्रीट से हाथों में भीड़ है हेडफोन में बीट बजे कागज में गीत मी के ब्लैक निगर आम ब्लैक black रांची के स्ट्रीट से हाथों में भीड़ है हेडफोन में बीट बजे कागज में गीत लिखे ब्लैक निगर आमा ब्लैक निगर जिगरी जो यार है चाहे तो चार है सब वफादार यहाँ फाड़ देते गाड़ है उंगली करे कोई हमें उंगली उनकी तोड़ दे दूर रहता उनसे जो लोग मतलब मैं मुंह मोड़ ले भाई पगला गया गाना मेरा सुन वो भी बोले मेरा भाई आमा ब्लैक निगर आमा ब्लैक निगर रांची के स्ट्रीट से हाथों में भीड़ है हेडफोन में बीट बजे कागज में गीत लिखे ब्लैक निगर आमा ब्लैक निगर रांची के स्ट्रीट से हाथों में भीड़ है हेडफोन में बीट बजे कागज में गीत लिखे ब्लैक निगर आमा ब्लैक निगर रस्ते पे मैटर है लेते हम क्या कर है टॉमी करे बाकी यहाँ बैठा एक रैकर है सांप पर जगा धोखा देते साथ रह है साथ देखो माया मेरे पागल सा पर पैसे नहीं पास में आयो ते गास में लगते हैं पैसा मैं ब्लैक नहीं गया हम ब्लैक नहीं गया खत्म